और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता मेरा अजर तो तमाम जहानों के रब के जिम्मे करम पर है